देखो ये तुम ही तो हो जिन्होंने उन मामलात में अपनी सी बहस कर ली है जिनका तुम्हें कुछ न कुछ इल्म था अब उन मामलात में क्यों बहस करते हो जिनका तुम्हें सिरे से कोई इल्म ही नहीं है अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते